परम पिता परमात्मा का स्मरण समस्त ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ सत्कर्मी सज्जनों जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए हमें किस शैली से आगे बढ़ना चाहिए इस विषय में वेद का उपदेश क्या है परमात्मा का उपदेश क्या है वो आज इस मंत्र में हमें प्राप्त हो रहा है आज का मंत्र है यजुर्वेद के चौतीसवें अध्याय का अड़तीसवां मंत्र और आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश में पैतालीसवां मंत्र मंत्र है भग एव भगवा अस्तुदेवा तेन वयम भगवंत श्याम तन्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह इस मंत्र में परमात्मा की स्तुति भी है और परमात्मा से प्रार्थना भी की गई है हम परमात्मा को भगवान शब्द से बोलते हैं इस मंत्र का देवता भी भगवान है तो परमात्मा को हम भगवान क्यों बोलते हैं परमात्मा को भगवान कहने का मतलब क्या है तो वेद मंत्र स्वयं कह रहा है परमात्मा स्वयं कह, रहा है भग एव भगवान भग का मतलब होता है ऐश्वर्य विभिन्न गुणों का उत्कर्ष उसकी चरम सीमा बहुत ऊंचाई तो भगवान कौन है तो बोले भग एव भगवान ऐश्वर्य ही भगवान है विभिन्न ऐश्वर्य ही भगवान है दूसरे शब्दों में कि भगवान को भगवान भग वाला जैसे कि धनवान धन वाला ऐसे परमात्मा भग वाला है ऐश्वर्य वाला है तो परमात्मा और कुछ नहीं है परमात्मा भग एव बस ऐश्वर्य ही है ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है ऐश्वर्य के अतिरिक्त भग के अतिरिक्त वहां कुछ और नहीं है हर चीज का ऐश्वर्य उसमें है जैसे हम भौतिक रूप से किसी ऐश्वर्यशाली को धनवान को राजा को देखें उसके घर को उसके साधनों को उसकी गाड़ियों को उसके वस्त्रों को आभूषणों को तो हर जगह हमें ऐश्वर्य दिखाई देगा संपन्नता दिखाई देगी उत्कर्ष दिखाई देगा अच्छे से अच्छे वस्त्र अच्छे से अच्छे आभूषण अच्छे से अच्छा भोजन सब चीज अच्छी ही अच्छी दिखाई देगी तो हमें लगता है कि यहां तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं जूते चप्पल भी होंगे तो वो भी ऐश्वर्य से युक्त कूड़ेदान होगा तो वो भी ऐश्वर्य से युक्त पर्दे होंगे तो वो भी ऐश्वर्य से युक्त हर चीज विशिष्ट गुणों से युक्त अति संपन्न श्रेष्ठ जब हमें दिखाई देती है तो हम कहते हैं यहां तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है कुछ उसी तरह परमात्मा के लिए यहां पर वचन है भग एव भगवान वो परमात्मा ऐश्वर्य से ही युक्त है ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है परमात्मा में ज्ञान का ऐश्वर्य है अनंत ज्ञान जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते एक छोटा सा चिकित्सक होता है अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है एक छोटे से अंग का एक छोटे से शरीर का एक छोटे से भाग का रोग का वो उपचार करता है हमें लगता है कितना जानकार है क्योंकि हम उस विषय में नहीं जानते लेकिन परमात्मा तो उस समस्त इन विभिन्न शरीरों को बना रहा है सबकी रक्षा कर रहा है व्यवस्था कर रहा है उसने इनको बनाया है तो उसका ज्ञान कितना होगा छोटे छोटे भवनों को बनाने वाले जो कि इस ब्रह्मांड की दृष्टि से बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत विशाल हमें प्रतीत होते हैं उनको बनाने वाला कितना जानकार होता है आज विश्व की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके सौ से भी अधिक मंजिल की ऊंची ऊंची इतनी व्यवस्थित बनी हुई अट्टालिकाओं को देख करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है कितने ज्ञान से युक्त होके इसके बनाया होगा कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं जबकि किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया होता है एक व्यक्ति का दिमाग नहीं लगता है बहुत विशेषज्ञ मिल करके उसको काम करते हैं लेकिन फिर भी हम आश्चर्यचकित होते हैं कितना इनका ज्ञान है अद्भुत ऐसे भवन बना दिए कैसे ऊपर तक जाकर के बनाया कैसे सारी चीजें ऊपर पहुंची कैसे आने जाने की व्यवस्था है हर चीज का ध्यान रखा गया है कितना सुविधा संपन्न बनाया हम उस एक भवन को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कितना ज्ञान होगा कितनी कुशलता होगी लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से वो भवन कुछ भी नहीं है बिल्कुल छोटा सा है नाम मात्र है तो इस सब की व्यवस्था करने वाला परमात्मा कितना ज्ञानवान होगा तो ज्ञान के क्षेत्र में अनंतता वहां दिखाई देती है और वो सर्वत्र है परमात्मा में केवल इस एक गुण के कारण भी हम कह सकते हैं कि परमात्मा तो भग एव ऐश्वर्य युक्त ही है ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है उसमें और उसके साथ साथ उसका बल कितना होगा जो उसने ये सब बनाया उसकी सामर्थ्य उसकी बुद्धि उसकी परोपकारिता उसकी सामंजस्य की शक्ति ये सब कितने होंगे तो परमात्मा के गुणों को जब हम देखने लगते हैं तो वहां ऐश्वर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता उसमें कहीं कोई न्यूनता दिखाई नहीं देती तो जब परमात्मा के गुणों का हम उत्कर्षता से चिंतन करते हैं व्यापकता से वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करते हैं तो वहां यही प्रतीत होगा भग एव भगवान बस परमात्मा तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं परमात्मा में कोई न्यूनता हम देखने लगे ऐश्वर्य की न्यूनता देखने लगे तो कहीं दिखाई नहीं देगी कोई न्यूनता हम पकड़ नहीं सकते और यदि कोई न्यूनता हमें दिखाई दे रही है तो हमारी बुद्धि का ही दोष है हम उस बात को समझ नहीं रहे हैं हम उसको गलत ढंग से देख रहे हैं तो परमात्मा ने जो भी बनाया है उस सब को देख करके परमात्मा का ऐश्वर्य शक्ति सामर्थ्य हमारे सामने उभर के आ जाता है तो वेद तो हमारे को स्वयं कह रहा है कि परमात्मा भग के ऐश्वर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है भग एव भगवान तो जब जब परमात्मा के प्रति हम भावना करें हमारे मन में परमात्मा का वो ऐश्वर्य उपस्थित होना चाहिए तभी हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे तभी हम उससे अभिभूत होंगे तभी हम उसकी तरफ बढ़ने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे तो ये परमात्मा की स्तुति हुई भग एव भगवान अस्तु अस्ति है वो ऐसा ही है संसार में कितना भी परमात्मा पे दोषारोपण हो परमात्मा की कमियां निकाली जाएं, लेकिन आर्य को परमात्मा में ऐश्वर्य ही देखना है जो कमियां बताई जाती हैं जो कमियां दिखाई देती हैं उनका समाधान हमें करना है ये कमियां वास्तव में कमियां हैं अथवा मिथ्या आक्षेप है तो आर्य तो परमात्मा को देखेगा भग एव भगवान अस्तु वो परमात्मा केवल ऐश्वर्य से युक्त है और कुछ है ही नहीं वहां पर अब परमात्मा के स्वरूप को समझ करके जान करके वो विद्वानों से प्रार्थना कर रहा है देवास्तेन वयम भगवंत श्याम हे देवा हे देव लोगो हे विद्वानों वयम हम सब मनुष्य तेन भगवंत श्याम उस भगवान से ही ऐश्वर्य वाले हो जाएं परमात्मा जिस ऐश्वर्य से युक्त है उस ऐश्वर्य से युक्त हम सब भी हो जाएं बिना मार्गदर्शक के एक सामान्य मनुष्य ठीक ठीक नहीं चल सकता हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी व्यवस्थाओं के लिए भी जानकारों की सहायता लेनी होती है विद्वानों की सहायता लेनी होती है और वो विद्वान भी देवलोग भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से हमें मार्ग दिखाते हैं तो ये आर्य ये मनुष्य सज्जन देवों से प्रार्थना कर रहे हैं हे देवो तेन वयम भगवंत श्यामा हम उस ऐश्वर्य से युक्त हो जाएं जिस ऐश्वर्य से युक्त वो परमात्मा है जिस आनंद से युक्त वो परमात्मा है वही आनंद हमारे को भी आ जाए ऐसा मार्गदर्शन आप हमारा करो यदि देव परमात्मा को छोड़ करके अन्य प्रत्यक्ष चीजों को देखते हुए हमारे को मार्गदर्शन करें तो उनका मार्गदर्शन अलग तरह का होगा और ये देव यदि परमात्मा को और परमात्मा के विधान को ध्यान में रखते हुए हमारा मार्गदर्शन करें सुख प्राप्ति का मार्ग बताएं तो उनका मार्गदर्शन अलग प्रकार का होगा यूं तो सांसारिक सुखों को भोगने की दृष्टि से सांसारिक साधनों की उपलब्धता की दृष्टि से भी लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं देखिए ये भोजन है ये व्यंजन है कि बहुत स्वादिष्ट है इसकी सुगंध बहुत अच्छी है इसमें ये ये गुण है ये सब चीजें सामाजिक एक सामान्य विद्वान भी बताता है पाक विद्या का विशेषज्ञ भी बताता है लेकिन वो केवल स्वाद तक बताएगा वो कुछ गुणों तक बताएगा लेकिन परमात्मा की दृष्टि से वो खाद्य पदार्थ खाने योग्य है या नहीं है वो वस्तु खाने योग्य है या नहीं है ये सब विद्वान नहीं बता सकते जो विद्वान परमात्मा को छोड़ करके हमारा निर्देशन कर रहा है जिसे परमात्मा का विचार ही नहीं है केवल भौतिक व्यवस्थाओं को देख करके वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है उसका मार्गदर्शन परमात्मा की तरफ पूरी तरह ले जाने वाला नहीं हो सकता उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य होंगी तो आर्य को यह पता है कि परमात्मा ही पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है और उसके बताए हुए मार्ग पर ही चल के मैं संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकूंगा ठीक तरह से ऐश्वर्य वाला हो सकूंगा इसलिए वो देवों को संबोधित कर रहा है देवास्ते न वयम भगवंत श्याम विद्वानों हम सब उस परमात्मा की रीति से ही परमात्मा के विधान से ही भग वाले बने ऐश्वर्य वाले बने और इससे निषेधात्मक विपरीत अर्थापत्ति ये निकलती है कि परमात्मा को छोड़ करके हम भगवान ना बन जाए परमात्मा के विधान को छोड़ करके हम ऐश्वर्यों को खड़ा कर लें इकट्ठा कर लें ऐसे भगवान हम ना बन जाए संसार हमें भगवान कहता रहेगा इसके पास बहुत धन है लेकिन यदि परमात्मा की विधि से परमात्मा के निर्देश के अनुसार वो धन ऐश्वर्य इकट्ठा नहीं किया गया है तो वो अंततः सुखदायी नहीं होगा इसलिए ये आर्य प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा की रीति से उस परमात्मा के द्वारा ही हम ऐश्वर्यशाली बने ये भौतिक चीजों पे भी जहां लागू होता है और इसको अंततः आनंद की दृष्टि से मोक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो वो सुख तो परमात्मा की रीति से ही प्राप्त हो सकता है जिस आनंद के कारण परमात्मा ऐश्वर्य युक्त है वो आनंद हमें भी प्राप्त हो जाए परमात्मा को संबोधित करते हुए अगली पंक्ति के प्रथम चरण में उसकी स्तुति की जा रही है हे परमात्मा तंत्वा भग सर्व इत जो हवीति हे परमात्मा तम त्वा हे भग स्वरूप परमात्मा उस आपको जो ऊपर स्वरूप बताया गया कि परमात्मा भग एव अस्थि केवल ऐश्वर्य स्वरूप है ऐसे उस ऐश्वर्य स्वरूप परमात्मा को ही ऐसे तुझको ही तंत्वा भग सर्व इत ये समस्त संसार ये समस्त प्राणी जो हवीति बार बार पुकार रहे हैं बार बार प्राप्त करना चाह रहे हैं समस्त जीवों का प्रयत्न तेरे उस ऐश्वर्य को पाने के लिए ही लगा हुआ है चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य प्राणी हो सबकी दौड़ परमात्मा के उस आनंद को ऐश्वर्य को पाने के लिए ही लगी हुई है अधिक से अधिक प्रयत्न करके अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके हर आत्मा उसी को पाना चाहते हैं ये आर्य की दृष्टि है हम देखेंगे कि संसार के इतने मनुष्य हैं सब तो परमात्मा को नहीं पाना चाहते परमात्मा के आनंद को पाना नहीं चाहते कहते वो तो भौतिक सुखों में लगे हैं उनसे पूछो भी उनको साधना के बारे में भी कहो तो कहेंगे कि नहीं हमें तो बस यही ठीक है भगवान को किसने देखा है मुक्ति होती है नहीं होती है किसे पता है ये वर्तमान के सुखों को छोड़ करके हम मुक्ति के सुख की तरफ अज्ञात सुख की तरफ अपना समय लगा दें प्रयत्न लगा दें इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है तो प्रतीति ये होगी कि सब जने कहा परमात्मा की तरफ भाग रहे हैं कहा परमात्मा के आनंद को पाने के लिए पुकार रहे हैं प्रयत्नशील हैं मैं हाँ, तो यही लगेगा कि ये तो प्रकृति के सुखों की तरफ ही भाग रहे हैं तो वो वो आत्माएं जो ठीक ज्ञान से युक्त नहीं है अज्ञानी है वो प्रकृति की तरफ ही जाती हुई दिखेंगी उनका वही अभिप्राय है मोक्ष उनका लक्ष्य बना ही नहीं है वो जानते ही नहीं है और जानते हैं तो लक्ष्य अभी नहीं बनाए किंतु आर्य की दृष्टि क्या है वो देख रहा है कि भले ही ये परमात्मा के आनंद को मोक्ष को नहीं जानते हैं और प्रकृति की तरफ ही लगे हैं किंतु वास्तव में ये चाह क्या रहे हैं प्रकृति की तरफ जाते हुए भी इनकी इच्छा क्या है इन सब की इच्छा है कि दुख रहित सुख मुझे प्राप्त यह हर प्राणी की इच्छा है दुख को हटाना चाहता है सुख को पाना चाहता है इसीलिए तो भौतिक पदार्थों की तरफ जा रहा है ये अलग बात है कि उसे ये निश्चय नहीं है कि जिस सुख को मैं पाना चाहता हूं वो यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी वो यही सोच रहा है कि शायद यहां मिलेगा क्योंकि कुछ सुख भी वहां मिलता है लेकिन जो उसकी आंतरिक इच्छा है वो दुख रहित सुख को पाने की है और उस इच्छा को देखते हुए आर्य कह रहा है कि हे परमात्मा तेरे को ही तो पाने के लिए सब उद्यत है तेरे ही तो उस सुख को पाने के लिए ये प्रयत्नशील है तो वस्तुतः तो हर आत्मा परमात्मा के ही ऐश्वर्य को भग को पाने के लिए प्रयत्नशील है आंतरिक इच्छा यही है लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि ये कहां मिलेगा इसलिए जो वस्तु सामने आती है उसी से सुख प्राप्ति का वो प्रयास करते हैं तो आर्य कह रहा है तंत्वा भग सर्व इत जो हबीति हर कोई उसी तरफ तो बढ़ना चाह रहा है लेकिन आर्य को पता है कि मैं भी उसी तरफ बढ़ना चाह रहा हूं और मुझे समझ आ गया है तेन वयम भगवंत श्याम उस परमात्मा के माध्यम से ही हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं हम उसको पाना चाहते हैं और परमात्मा की रीति से ही उसके विधान से ही उसको पा सकते हैं और अब परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि ऐसा हमें कैसे मिल जाए कैसे हम उसकी तरफ बढ़ जाए प्रथम पंक्ति के अंत में देवताओं से भी प्रार्थना की गई हमें ऐसा ही निर्देश दो जो कि परमात्मा के अनुकूल हो तो वो देव भी तो मनुष्य ही है विद्वान हैं लेकिन वो भी मनुष्य हैं हम सब भी मनुष्य हैं तो हम सबका नेतृत्व कौन करे किसके अनुसार हम चलें तो मंत्र के अंत में कहा सनो भग पूरा एता भव इह स भग वह परमात्मा वह ऐश्वर्य युक्त परमात्मा न हमारा हमारे लिए पूरा एता हमारा अग्रणी हमारा हमें आगे बढ़ाने वाला हमें आगे आगे प्राप्त कराने वाला हो जाए यह इसी जन्म में इसी शरीर में परमात्मा का नेतृत्व हमारा रहे हम परमात्मा के निर्देश के अनुसार चलते चले परमात्मा तो निर्देश करता रहता है वेद का उपदेश भी उसने दे ही दिया है और परंपरा से भी विद्वानों के माध्यम से हमें उसका उपदेश प्राप्त होता रहता है लेकिन हम परमात्मा को अपना पूरा एता नहीं बना पाते अपना नेतृत्व करने वाला नहीं बना पाते अपना अग्रगामी नहीं बना पाते तो वो परमात्मा हमारा अग्रगामी बन जाए उसी के निर्देश के अनुसार उसी के पीछे पीछे हम चलें और यही वो रास्ता है कि हम भी परमात्मा के आनंद को ऐश्वर्य को पा सकेंगे तो जिस इच्छा को लेकर के हम सब मनुष्य चल रहे हैं दुख रहित सुख की प्राप्ति के लिए उसके लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि हम परमात्मा को ऐश्वर्य संपन्न समझें वही वास्तव में ऐश्वर्य है ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है और जितने भी हमें निर्देश करने वाले देव लोग हैं विद्वान लोग हैं वो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप हमें निर्देश प्रदान करें और वही परमात्मा हमारा नेतृत्व करने वाला बन जाए हम उसी को अपना नेता समझें कि हमें इसी के अनुसार चलना है और यही सब प्राणियों की इच्छा है सब प्राणी बार बार उसी को पुकारते हैं तो जब उसी को पुकारते हैं तो हम क्यों ना उसी को पाने के लिए प्रयत्नशील हों हम पुकार तो उसी को रहे हैं हम पाना तो उसी के आनंद को चाह रहे हैं लेकिन मार्ग हमने दूसरा पकड़ लिया है ये आर्य को समझ में आता है कि मुझे तो मार्ग भी वही रखना है जो परमात्मा का है क्योंकि जब सभी उसी को चाहते हैं तो उसी के अनुसार हमें चलना ही होगा उसी के अनुसार चल करके ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं तो इस मंत्र में भग और भगवान शब्द अनेक बार आए इस मंत्र में परमात्मा को ही देवता के रूप में स्वीकार किया गया भगवान इस मंत्र का देवता है इस मंत्र का विषय वो परमात्मा ही है और परमात्मा का जो स्वरूप जो भग स्वरूप उसकी भगवत्ता को यहां पर प्रदर्शित किया गया उसको जान के समझ करके मनुष्य कैसा बनेगा तो इस मंत्र का ऋषि है वशिष्ठ जिस ऋषि ने इसका साक्षात्कार किया इस मंत्र को समझा और उसके अनुसार आचरण किया उसको फैलाया उसका नाम वशिष्ठ पड़ गया उस ऋषि का अपना नाम जो भी रहा हो लेकिन उसका यह गुणवाचक नाम पड़ गया वशिष्ठ जो बसने वालों में श्रेष्ठ है सबसे अच्छा है जो निवास करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है जो सबसे अधिक बसाने वाला है निवास कराने वाला है वास का हेतु है वो वशिष्ठ बन जाता है वैसे तो हम सभी इस भूमि पर निवास कर रहे हैं लोक लोकांतरों में भी विभिन्न जीव निवास कर रहे हैं वस रहे हैं बस रहे हैं लेकिन वो वास वास क्या कि इस ऐश्वर्य को ना पा सके परमात्मा के भग को ना प्राप्त कर सके तो जो इस मंत्र का साक्षात्कार कर लेता है कि परमात्मा के निर्देश के अनुसार ही मुझे ऐश्वर्यों की प्राप्ति करनी है तो इस संसार में वसने वाले जितने भी हैं निवास करने वाले जितने भी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ निवास करने वाला वो बन जाता है वास्तव में उसी ने इस धरती पर वास किया है वास करके जो पाना था उसको पाया है तो यत वस्त्री तमो भवती जो सबसे श्रेष्ठ बसने वाला होता है वास करने वाला होता है उसको वशिष्ठ बोलते हैं और अतिशय ने वासयितावा जो सबसे अच्छी तरह दूसरों को वास कराता है स्वयं भी बसता है उसे पता है कि इस संसार में कैसे रहना है कैसे निवास करना है कैसे लाभदायक होगा और उसी शैली से वो दूसरों को भी श्रेष्ठ ढंग से निवास करवा पाता है दूसरों को उसी तरह बता पाता है वो वशिष्ठ बन जाता है और वशिष्ठ शब्द हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ के अर्थ में भी आया है जो श्रेष्ठ होता है उसको वशिष्ठ बोला गया है क्योंकि जो अच्छा होता है उत्तम होता है कल्याणकारी होता है वो ही अच्छी तरह से वास कराने वाला होता है और वास करने वाला होता है जो अच्छी तरह यहां रह नहीं सकता वो श्रेष्ठ कैसे कहला सकता है आर्य हम श्रेष्ठ को बोलते हैं वो आर्य कैसे हो सकता है जो यहां ठीक तरह से वस ही नहीं सकता निवास ही जो ढंग से नहीं कर पा रहा है वो कैसे श्रेष्ठ है और वो कैसे आर्य हो सकता है आर्य और श्रेष्ठ वही होता है जो परमात्मा के विधान को जान करके यहां अच्छे ढंग से रह सके अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छे ढंग से रह सके प्रकृति के साथ अच्छे ढंग से रह सके और इस शरीर के साथ में अच्छे ढंग से रह सके इस शरीर का अच्छी तरह से उपयोग कर सके वो अच्छी तरह बसने वाला है निवास करने वाला है वही श्रेष्ठ है श्रेष्ठता की कसौटी ही ये बनेगी कितने भी गुण हों यदि वो ढंग से रह नहीं सकता है तो कैसा श्रेष्ठ है जो अन्यों के साथ मिलजुल करके नहीं रह सकता वो कितना ही गुण वाला हो वो कैसा श्रेष्ठ है जो कितने ही साधन संपन्नता से युक्त हो खाद्य पदार्थ से युक्त हो लेकिन अच्छी तरह स्वस्थ रह नहीं सकता तो वो कैसा श्रेष्ठ है जो अच्छी संपन्नता से युक्त हो गाड़ियों से युक्त हो भवनों से युक्त हो लेकिन उस भवन में भी जो दुखी रह रहा है वो कैसा श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ तो वो होता है जो निवास कर सकता है अच्छी तरह रह सकता है कुशलता तो इसी में है वही आर्य है और वही वशिष्ठ है तो जो अच्छी तरह बसने वाला है जो अच्छी तरह बसाने वाला है वही श्रेष्ठ होता है उसे वशिष्ठ कहा तो इस मंत्र का जो साक्षात्कार करेगा जो इसको समझेगा इसको जीवन में लाएगा इस सूत्र को पकड़ लेगा वो वशिष्ठ बन जाएगा वो श्रेष्ठ बन जाएगा वो आर्य बन जाएगा तो हमारे मन में ये भावना रहे कि परमात्मा ऐश्वर्य से युक्त है परमात्मा से भागने की हमें आवश्यकता नहीं है उसको कष्टदायक या दंडदाता देखने की आवश्यकता नहीं है हम उसको ऐश्वर्य से युक्त समझें और उसी के विधान के अनुसार उसको पाने के लिए प्रयत्नशील हों हम विद्वानों से भी यही प्रार्थना करें कि हमें उसी तरह का मार्ग दिखाइए जैसा परमात्मा ने दिखाया है और उसी के अनुसार हम चलें उसी के अनुसार मार्गदर्शन दूसरों को देवें तो हम श्रेष्ठ बनेंगे आर्य बनेंगे और वशिष्ठ बनेंगे मन में मंत्र के भावों को रखते हुए प्रभु का स्मरण ओम का उच्चारण ओ Shah.